सर्वे का अर्थ कर दिया विश्व धाराइव रतनाम अर्पिता संप्रवेशिता स्थिति काल है कब स्थिति काल में सब वहां पर प्रवेशित है उसी में अधिष्ठित होकर सकल क्रियाकलाप करते हैं उसके बिना कोई क्रियाकलाप कर नहीं सकते सो भी ब्रह्म तारस प्राण भी ब्रह्म तदे तो सर्वात्म ब्रह्म इसलिए वह यह जो तुम्हारे अगर पूछा हुआ ब्रह्म यही सर्वात्मक ब्रह्म है तदुनाते न अतिथ्य तदात्मकता तद अन्य गति कश्चन ये कश्चित तादृश को अतिक्रमण करके तद आत्मकता उस आत्म तदात्म स्वरूप को छोड़ करके तद अन्यतम कश्चन न गच्छति कोई भी तत्व उसके भिन्नत्व को प्राप्त नहीं कर सकते और उस ब्रह्म भिन्नत्व स्वतंत्र अस्तित्व वाला होकर के किसी प्रकार का भी कारण भाव के द्वारा जगत के रूप में उपस्थित हो नहीं सकती ब्रह्म रूप अधिष्ठान को छोड़ करके किसी भी तत्व जो कुछ भी हमारे द्वारा संसार में अनुभव होता है कोई भी तत्व का स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है अतएव ये सर्व जितना भी हम अनुभव कर रहे हैं ये सर्वात्मक क्या है वह ब्रह्म ही है अधिष्ठान अभिन्न होने के जैसे समस्त चित्र क्या है तो पट से अभिन्न होने से पट रूप ही है इसलिए पट को क्या होगा सर्वात्मक है सर्व चित्रात्मक पट जैसा होता है इसे सर्व संसारात्मक यह ब्रह्म ही है ऐसा जानो उस ब्रह्म को यदि वेहत तदमुत्र यदमुत्र तदन्वय मृत्यु समृत्यु आपनोती नाने व पश्यती यदे वह तदमुत्र और यदमुत्र तदनु यह कल जो इस देह इंद्रिया संघात प्रभु लोक में आपको भाषित होता है वही ब्रह्म अन्य देहादि भी परे बाहर सर्वत्र व्यापक रूपेण नित्य विज्ञान रूप से वही अन्यत्र भी है और जो अन्यत्र व्यापक रूपेण विज्ञान स्वरूप रूपेण विद्यमान है वही आपके संघात के अंदर भी इस संघात उत्पत्ति के पश्चात विशिष्ट रूपेण भाषित होता है इसे अनु कह दिया मृत्यु से मृत्यु होती वह व्यक्ति जन्म मरण मृत्यु से भयंकर मृत्यु रूप अविद्या के अंदर डूब जाता है उसको प्राप्त कर लेता है यह, यह जो इस ब्रह्म स्वरूप में नाना इव पश्यति नानत्व के समान भी देख लेता है तो द्वैतम इव यदि पश्यति शायद हाँ, अभी अद्वैत ही जो देख रहा उसका तो हार्द क्या होगा भगवान ही जाने जो द्वैत के समान में किंचित भी भेद को इसमें दृष्टि कर देता है ऐसा अनुभव करने की चेष्टा करता है और जब भेद विशिष्ट ब्रह्म का स्वरूप ग्रहण करने की चेष्टा करता है और समृत्यु नाशिकार करते अवतरणी का यद ब्रह्मादि स्थावरान देश वर्तमान तत्व जो पारिक अब्रह्मवत अवभाषमानम संसारी अन्य परस्मात ब्रह्मण Hmm. माभूत कसिदाशंका आशंका किसी मन में ऐसी आशंका उत्पन्न ना हो जाए कैसी आशंका करे जो ब्रह्मा जी से लेकर के स्थावर पर्यंत जितने विद्यमान है सत्य उपाधि वाला होकर के अब्रह्म के समान भाषित हो रहे हैं ऐसा भाषित होता हुआ वह संसारी भिन्न है इससे उस पर ब्रह्म से ऐसा किसी की आशंका न हो इसलिए अगला मंत्र आरंभ हुआ है कहते कि नहीं नहीं जो इसके उपाधि के भीतर भाषित होता है वही सर्वत्र बाहर व्यापक है जो सर्वत्र बाहर व्यापक है वही इस शरीर रूपी उपाधि को उत्पन्न होने के बाद इसके अंदर विशिष्ट प्रकाश रूप प्रकाशित हो रहा है उसी प्रकार से जिस प्रकाश के बीच के अंदर दर्पण विद्यमान है वह दर्पण भी सूर्य का विशिष्ट प्रकाश को प्रतिफलित करने में सक्षम हो जाता है ये दर्पण कहाँ है उसी सूर्य के सामान्य प्रकाश में विद्यमान है उसी सूर्य के सामान्य प्रकाश विद्यमान होते हुए भी वह दर्पण सूर्य का विशिष्ट प्रकाश का प्रतिफलन करने में सक्षम होता है ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म के सामान्य प्रकाश सामान्य विज्ञान नित्य विज्ञान स्वरूप के अंदर विद्यमान होता हुआ भी शरीर रूपी उपाधि के अंदर बुद्धि रूपी दर्पण विशिष्ट प्रकाश का प्रतिफलन करता हुआ विषयों को ग्रहण कर लेता है इसीलिए जो बाहर है वही भीतर है जो भीतर है वही बाहर है बाहर भीतर दो अलग नहीं है अरे जो दो करके अनुभव करता है वह महान अज्ञानी है वही व्यक्ति मृत्यु से मृत्यु अपनौती ये कहा समन्वित संसार घनोदव भाषमानम अविवेकी नाम तदेव स्वात्म जो कार्य करण उपाधि में समन्वित होकर संसार के धर्म वाले के समान अवभाषित होता है अविवेकियों के लिए वही वास्तव तदेव स्वात्म जो वही स्वात्मस्थ है जो स्वबुद्धि में स्थित होकर अनुभव होता है जो वही अमुत्र नित्य विज्ञान घर स्वभाव सर्व संसार घरोचितम ब्रह्म वही नित्य विज्ञान घन स्वभाव है सर्व संसार धर्म से वर्जित है सर्वव्यापक शुद्ध ब्रह्म है यच अमुत्र अमुष्मिन्नात्मनिष्ठितम और जो अमुत्र बाह्य आत्मा में जो मानते हो जगत कारण तो अमुष्मिन मने जगत के कारणत्व के जगत कारणत्व उपाधि है हिरणगर्भादियों में भी जो व्यापक रूपेण समष्टि रूपेण भाषित होने वाला नित्य विज्ञान है सिद्धम तदेव यह नाम रूप अनुविभाव्य मानम नान्य वही यहाँ पर नाम रूप आत्मक जो उपाधि वाला यह क्षुद्र शरीर आदि से संपन्न जो संघात रूपा है इसके उत्पत्ति के पश्चात इसके भीड़ में भी वही प्रकाशित होते रहता है नान्यत कोई दूसरा चीज नहीं है तत्रैवं सती उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षण या अविद्या मोहित सन यह ब्रह्मणी अनाना भूते परस्मा अन्यो अहम वत्तो अन्य परम ब्रह्म यद्यपि ऐसा है फिर भी उसके बावजूद भी उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षण या उपाधि का स्वभाव है जो भेद दृष्टि हो जाता है हर दर्पण का प्रकाश अलग अलग है हर कैमरा से खींचा हुआ चित्र भी अलग अलग क्वालिटी का हो जाते हैं पहचान भी नहीं सकेंगे वही है कि दूसरा है ऐसा ऐसा खींच जाता है फोटो अलग अलग कैमरा से खींच के देख लो और किसी अज्ञात वस्तु के सामने आप फोटो आपके सामने रखा जाए आप समझेंगे सब अलग अलग लोग हैं देखने में एक जैसे लग रहे हैं चेहरा आते दाढ़ी मुंह से लेकिन ये तो अलग है ये तो ज्यादा गोरा है ये तो भाई थोड़ा सावला है इसमें खून ज्यादा दिख रहा है नहीं वो जैसा क्वालिटी है कैमरा की वैसे दिखता है है तो एक ही हो जैसा दर्पण है दर्पण में भी आप यही हाल देखते हैं उसका पीछे में जो लगाया हुआ पारे का जो परत है विशेष उसके ऊपर निर्भर है वो जितनी बढ़िया क्वालिटी का है उतनी ही सुंदर चेहरा दिखाई देता है और जितनी घटिया है उसकी उतनी खराब दिखेगा चेहरा कहीं मोटा दिख जाता है कहीं पतला हो जाता है नहीं ऐसे भी दर्पण देखे है ना और कोई कोई दर्पण ही ऐसा बना रहा है जो उसके सामने खड़े क्या हंसते रहिएगा एकदम कहीं आप जो है नारियल का पेड़ जैसे हो जाओगे लंबा और कहीं तो घड़े से भी मेढक जैसी इतनी छोटी सी मोटी सी हो जाओगे क्या है ये ये उपाधि से भेद दृष्टि हो रहा है वस्तु में तो नहीं है ना तो सामने खड़ा व्यक्ति तो जानता है ना मैं मेढक हूँ ना मैं नारियल का पेड़ हूँ लेकिन फिर भी आपको दिखाई तो देगा ना लेकिन दिखाई दिया वो उस वस्तु में ही जो उपाधि के भेद दृष्टि स्वभाव होता वस्तु है वो अविद्या मोहित सं अविद्या के कारण से उसी में मोहित हो गया मोहित हो जाने के कारण से यह ये ब्रह्मण अनानाभूत है जो इस ब्रह्म में अनानाभूत ब्रह्म में भेद रहित ब्रह्म में परस्माद अन्यो हम और निर्णय क्या ले लिया मैं उस पर ब्रह्म से भिन्न नहीं हूँ मत तो अन्य परम ब्रह्म मेरे से भिन्न वह पर ब्रह्म है यदि नाना इव भिन्नम इव पश्यति उपलब्ध है इस प्रकार से भेद विशिष्ट वस्तु के समान कोई उसको उपलक्षित करने लग जाए स वह ज्ञानी वह विद्यावान मोहवान पुरुष मृत्यु मरणाल भी मरणम मृत्यु पुनः पुनः जन्म मरण भावम आपनति पुनः पुनः जन्म मरण भाव को रूपया विद्या को ही वो प्राप्त करता है तस्मात तथा न पश्य कहने का तात्पर्य है कि इसलिए कभी भी इस प्रकार की भेद दृष्टि नहीं करनी चाहिए विज्ञान गरसम निरंतरेण आकाशवत परिपूर्ण ब्रह्म वाहम अस्मी वाक्यार्थ इसलिए इस वाक्य का तात्पर्य हुआ कि हमेशा आपको कैसे अनुभव करना है विज्ञान एक रसमय हो निरंतर हो अगर कार्य कारण भाव से रहित हो आकाश के समान सर्वव्यापक हो किसी भी प्रकार के अभाव से युक्त नहीं हो किंतु परिपूर्ण हो ब्रह्म वाहम अस्मी तारस ब्रह्म ही मैं हूँ इस प्रकार का सदा अनुभव करना चाहिए ये श्रुति का तात्पर्य बाहर बाहर बुद्धि के अंदर कुंठिता बुद्धि है ये अकुंठित बुद्धि तो है नहीं अकुंठ मेला कला सुखदेव महाराज के लिए ये कुंठा बुद्धि है ना बार बार आपके अंदर कहेगी अरे तुम तो कुछ नहीं हो तुम्हारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है ये यहाँ तक तो ठीक है तुम कुछ नहीं हो कह रहा तो ठीक ही कह रहा है एन तुम्हारा सामर्थ्य नहीं ये गड़बड़ का है मैं कुछ हूँ यह अहंकार ही गलत है मैं कुछ नहीं हूँ किंतु शुद्ध ब्रह्म ही हूँ कुछ का मतलब क्या विशिष्ट इसलिए मैं कुछ नहीं हूँ यहाँ तक तो बात बिल्कुल सही बुद्धि कह देता है आगे गड़बड़ कर देता है और कह देता है कि भाई लेकिन जो है तुम महान अज्ञानी हो तुम्हारे अंदर कोई योग्यता नहीं कोई सामर्थ्य नहीं और कैसे उत्तर तर्क देता है बताओ तुम्हारे पास है रिद्धि सिद्धि कुछ दिखा दो चमत्कार जो ज्ञानवान पुरुष के चमत्कार की क्या जरूरत है चमत्कार भी तो मिथ्या जगत का ही खेल है अविद्या के एक जो सन्निवेश विशेष स्वरूप है वो लेकिन आपका अहंकार मन ये सब एकदम घुमाते रहते आप भी यही समझने लगते मेरा सामर्थ्य तभी मानी जाएगा जब मैं बहुत बड़ा आसम बना दू ये सोचने लगता है हाँ, ये सोचने लगता है इस प्रकार अनेक प्रकार के विचार आते हैं लाखों लोग बैठे हों हम प्रवचन कर रहे हों सब सुनते हों तो मानूंगा कि मेरे अंदर कोई सामर्थ्य है ऐसे से लोग जो है बाह्य जगत विषय का सामर्थ्य को अपना सामर्थ्य समझ करके आरोपित करते हुए वह अज्ञान में सदा विराजमान रहते हैं लेकिन इस प्रकार के मायामय सामर्थ्यहीन होकर सर्वोदय सामर्थ्य को लेकर जो चलता है जो स्वप्रकाश स्थित जो रहता है उदासीन उदासीन फिर उसको क्या चमत्कार से मतलब है उसके बाह्य चमत्कारों में कोई रुचि नहीं होती जब तक बाह्य चमत्कारों में आपकी रुचि है तो समझ लीजिएगा आपकी बुद्धि भैंस पानी में गई वो जा रही है वो गई वो गई खत्म आने वाली बात ही नहीं बसेगी नहीं फिर कहावत नहीं दे भैंस पानी में गई वही हालत है इसलिए इस पर बहुत सतर्क रहना पड़ता है रिद्धि सिद्धि का चक्कर में पड़ना सबसे खतरनाक काम ते अंतराया समाधि इसलिए भगवान पतंजलि ने स्पष्ट अपने सूत्र में कहा है ये समाधि में कैवल्य में मोक्ष के लिए सबसे बड़ा अंतराय बाधक है इसलिए कहते इस प्रकार का निरंतर अनुभव करनी चाहिए मैं विज्ञान ग्रस हूँ कार्य कारण भाव रहित होने के नाते मुझे इन बाह्य वस्तुओं से कोई लेन देन नहीं है अतएव मैं आकाश के समान व्यापक परिपूर्ण वस्तु ब्रह्म ही हूँ इस प्रकार का अनुभव करने के लिए ही यह कहा हुआ है कभी ये कैसा होगा ऐसे कैसे हो सकता है ये उपाधियों का जाल से हम कैसे निकलेंगे बाहर ऐसे जखर रखते हैं इस शरीर से बाहर अपने आप को खड़े होकर देखने की भी योग्यता नहीं है इसलिए योग निद्रा में कहते हैं कराते हैं ना योग निद्रा अभ्यास जब कराते हैं तो कहा जाता है मन घुमाते घुमाते घुमाते शरीर के अंदर ये बाहरी वस्तुओं के साथ घुमाते घुमाते आप बाहर ही ले जाएंगे और और वो बाहर खड़े होकर के देखो इस हॉल के अंदर सभी के सभी लेटे हुए योग निद्रा कर रहे हैं और इन सगले शरीरों के पीछे तुम्हारा शरीर भी पड़ा हुआ है उसको भी तुम बाहर खड़े होके देख रहे हो मैंने कार्य कारण संघात आत्मा के शरीर से बाहर निकल के इसको देखने की क्षमता भी नहीं होता है कई तो घबरा जाते हम तो अलग हो गए उठ जाती योग निद्रा के बीच में हम तुम वो तो मरा हुआ है वह शरीर और डर जाएगा तुरंत उसके अंदर आ जाएगा तो योग निद्रा कराने में कई बार हमने देखा हार्ट अटैक वालों को तो कभी कराना नहीं चाहिए बहुत खतरनाक और जो कमजोर मन वाले को भी नहीं कराना एक बार मृत्यु भय का निवारण कैसे होगा उसके लिए हमने योग निद्रा अभ्यास सेवा योग निद्रा अभ्यास कराता रहा तो पहले हमने आरंभिक योग निद्रा कराई दो तीन दिन उसके बाद हमने कहा आप जो है तुम लोग उनको वो मैं कराता हूँ तैयार है ना घबरा रहा नहीं ठीक है तो हमने उनको कराते कराते कराते पहले पहाड़ के ऊपर ले गया पहाड़ चढ़ गए और हमने कहा चोटी पे चढ़े हुए हैं एक तरफ था पर सीधी कट ढलान उस चोटी में तुम खड़े हो हमारे दोस्त लोग भी आ रहे हैं ऊपर सबको तुम देखा तो ऊपर आ गए तुमने एक को सहारा देकर खेचा हाथ और उसमें तुम्हारा पैर फिसल धड़म से नीचे गया धैर से उठ के कूद गया एक हाथ मर गया घबरा गया चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ बचाओ सारी उम्र खराब हो गई सब उठ गए कहीं तो पहले सो गए थे तो उनकी तो कोई समस्या नहीं थी फिर उसका अगला दिन हमने उनको ले गए भाई अच्छा घूमते फिरते आप जो है गंगा जी में आए हैं गंगा जी में स्नान कर रहे हैं स्नान करते करते आप जैसे डुबकी लगाए भीतर से ऐसा दिव्य दृश्य दिख रहा है तो अंदर एक मगरमच्छ था उसने अपने मुंह में आपको आपका शरीर मगरमच्छ के मुंह में जा रहा है वो बस पांच छह लोग खड़े हो गए तो सारा काम बिगाड़ मृत्यु का भय इतनी खतरनाक है योग निद्रा में भी आप अनुभव नहीं कर सकते कठिन काम है तो इसलिए कहते हैं जब ऐसा इस उपाधि के प्रति इतनी मा, मोह माया बनी हुई है इसे बाहर निकलना इसका मौत को स्वप्न में भी देखना हमें पसंद नहीं योग निद्रा में देखना पसंद नहीं इतनी जखड़े नहीं इसके प्रति कि बचपन से इसके जो है ना तेल मालिश करके साबुन लागे नहलाते नहलाते दिमाग से ऐसा इसके साथ तादात्म्य हो गया है अब एक क्षण के लिए भी इसे अपने आप को पलग नहीं कर पा रहे तो कैसे हम इसको अनुभव करेंगे यदि वह उत्तर तब कहते हैं से विदम आप्तव्यम नेह नारास्त किंचन मृत्यु समृत्यु गच्छति यह नाने व पश्यति इदम आप्तव्यम मन के द्वारा ही इसका अनुभव करना होगा इसको ग्रहण करना होगा और कोई रास्ता नहीं धीरे धीरे मन को इसका अभ्यास डालनी पड़ेगी धीरे धीरे करना पड़ेगा उसको जो है सम्यक प्रकार का प्रशिक्षण देना पड़ता है मन को विभिन्न प्रकार की इसलिए अचपा चप हुआ अंतर मौन हुआ चिदाकाश धारणा हुई योग निद्रा हुआ अनेक प्रकार के अभ्यासों का योग शास्त्रकारों ने वर्णन किया है जिनके द्वारा इस मन को हम प्रशिक्षित कर सकते हैं पिता कि वह शास्त्र में कथित वस्तुओं का भी अनुभव करने में समर्थ हो जाए इसी कहते हम मन सही वैरम और कैसे निर्णय करना है बस इसी का अभ्यास करना है यह ब्रह्मणी नाना नस्त किंच किंचित भेद नास्त और यह यह नाना पशति जो यहाँ भेद के समान भी किंचित अनुभव करने लग जाता है समृत्यो मृत्यु गच्छती सात एकत्व ज्ञानात् आचार्य आगम संस्कृत मनसा कह दिया एकत्व ज्ञान से पहले आगम और आचार्य इन दोनों के द्वारा संस्कारित किया गया जो मन सारस मन के द्वारा ही ब्रह्म रस आपतव्यम ब्रह्म एक रस ब्रह्म को आप जो है अनुभव कर सकते हैं ग्रहण कर सकते हैं आत्मा एव इति नान्यदस्ती आत्मा ही मैं हूँ वही है केवल उसके अलावा और कुछ नहीं है इस प्रकार का निश्चय किया जा सकता है आपकी इच्छा हाँ मन के द्वारा मन नहीं कर इसलिए पहले कह दिया आगमाचार्य से संस्कारित मन केवल मन इसको ग्रहण नहीं कर सकता जैसे बाह्य विषयों को ग्रहण करता है उस प्रकार से मन विषय रूपेण उसको ग्रहण नहीं कर सकता है क्योंकि आगम और आचार्य के द्वारा प्राप्त विज्ञान विशेष और कृपा विशेष के माध्यम से मन उस तत्व को अनुभव कर सकता है जैसे घटपटादि विषयों के इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण कर लेता है वैसे ग्रहण नहीं कर सकता मनसा इदम ब्रह्म ही करसम आप ही व नान्य दस्ती थी इस प्रकार से वह आगम और आचार्य दोनों के माध्यम से संभव है केवल आगम आप अपने आप पढ़ लोगे तो भी नहीं है क्योंकि आचार्य देव विद्या साधिष्ठा भवती आचार्य के मुख से विद्या प्राप्त जो हो वही विद्या अपने साध्य को सिद्ध करने में समर्थ हुआ करती है नहीं तो नहीं इसलिए यहाँ पर आगम सीधा नहीं का आगम आचार्य दोनों को लेना आचार्य और आगम दोनों संस्कार केवल आचार्य तो नहीं आचार्य भी केवल अपने तर्क वितर्क कुतर्कों के माध्यम से जाल बचा करके आपका कुछ निर्णय करने देते निर्णय करता है तो उसके आधार पर भी नहीं हो सकता यथा नैयायिक मीमांसकारी तार्किक लोग अन्य लोग हैं उन लोगों के मुख से ग्रहण करने पर भी आत्मा गर्व नहीं आ सकता आगम से होनी चाहिए क्योंकि जो तर्क वितर्क उतर्कों के माध्यम से जाल से बिछा कर आत्मा की सिद्धि करके आत्मा अनुभव कराने की चेष्टा करते हैं निश्चित रूप से वहां पर अहंकार के कारण से भेद बुद्धि बनी रहेगी ही वह व्यक्ति कभी आपको अनात्मा का अनुभव नहीं करा सकता वो आचार्य कहने योग्य नहीं हो सकता क्योंकि आगम के आधार पर क्या ये नस्तक व्याचित छे रहे सर्वत्र आता है वही आचार्य आचार्य मान लेता है अपने आप में जो व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है कि वास्तव में मैं कुछ नहीं जानता जो कुछ भी है आचार्य परंपरा से आगम परंपरा से जो जाना हुआ है वो यह है कि आचार्यों ने कहा था अहम ब्रह्मास्मि आगम परंपरा से ज्ञात हुआ है अहम ब्रह्मास्मि वही सुपारी में प्रकाशित हुआ है अहम ब्रह्मास्मि वही परोपाधि में प्रकाशित होने के लिए उपदिष्ट है अहम ब्रह्मा जो कहता है मैं कहता हूं ये सही है वह व्यक्ति बिल्कुल गलत है जिसको कहना परिषद में स्पष्ट पहले विचार आ चुका है नो नवे देती अच्छा हाँ। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रख करके यहाँ पर बात कहा जाता है कैसा मन से ग्रहण नहीं होता और किस प्रकार का मन से ग्रहण होता है दोनों बातें कही गई इसलिए जो असंस्कृत मन जिस प्रकार से बाह्य विषय जन्य सुख दुख आदि को ग्रहण कर लेता है विषय को ग्रहण करता है उसी प्रकार से इस आत्मा ब्रह्म को विषय रूप में ग्रहण करना चाहेगा तो ग्रहण नहीं कर सकता किंतु आगम आचार्यों से संस्कारित यह मन जो होता है वही उस ब्रह्म को अनुभव कर सकता है दूसरा नहीं आपते चंद नाना प्रतिपस्थापिकाया अविद्या निवृत्तवान और एक बार उसकी अनुभूति हो गई तो नानत्व का प्रतिपस्थापिका जो विद्या नष्ट हो जाती है निवृत्त हो जाती है अत यह ब्रह्मणी नाना नास्त किंचन अणुमात्र अणुमात्र भी लेश मात्र भी इस ब्रह्म में भेद नाम का चीज ही नहीं है यस्तु पुनर्विद्या तिम्र दृष्टि न मुंचती जो अविद्या जन्य तिमरात्मक दृष्टि के समान दृष्टि को जो त्यागदा नहीं है विवेक वैराग्य छठ संपत्ति मोक्ष को लेकर के महापुरुषों की संश्रय को प्राप्त करो जो व्यक्ति स्मृत दृष्टि को त्यागता नहीं है वह व्यक्ति यह ब्रह्मणी नाना इव पश्यति वह इस ब्रह्म में भेद के समान भेद में भेद दृष्टि उसके दृढ़ हो जाती है अतएव स मृत्यु गच्छति सर्व भेद मध्यारोपयन थोड़ा सा भी भेद का आपने अध्यारोप कर दिया सारा गांव चौपट हो जाता है स्वल्प जहाँ पूरा ही है तो कहना ही क्या है उसका तो सर्वथा सर्वधा और सर्वथा नाश हो ही गया पुनरअपि तदेव प्रकृतम ब्रह्मा उसी ब्रह्म को अन्य रूप से भी कथन कर रही है श्री क्योंकि यह दुर्विज्ञ है अत्यंत सूक्ष्म और इसका बार बार अनेक प्रकार से कथन किया जा रहा है साध्य का भी कथन साधन का भी कथन बारम्बार अनेक प्रकार से किया जाता है कहते भाई ऐसा तो मैं अनुभव नहीं कर सकता हूँ कि सर्वत बैठ गया सर्व्यापक ब्रह्म हूँ छोटा ही रह जाएगा क्या होगा कैसे अनुभव होगा वो है तो इसलिए कहते चलो फिर आंख बंद करो हृदय में जाओ वहां देखो चलो उपाधि में ही पहले अनुभव करो प्रकाश को फिर उसी के माध्यम सर्वत्र अनुभव कर लोगे आप फिर उपाधि के ऊपर उठना कठिन नहीं होगा अंदर की ओर जाना चाहिए विवेक होनी चाहिए वह अंतर यात्रा विवेक पूर्वक जब होने लगता है तो उसके बाद वहां पहुंचने के बाद आप यही देखेंगे उस प्रकार से भिन्न कुछ भी नहीं है ठीक अनुभव में आ जाएगा इसलिए कहते हैं अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनितिष्ठति ईशानम भूत भव्य न तथो विजुगुप्सते एक इसलिए इस पर एक अधिकरण ही है ब्रह्म सूत्र में प्रमिताधिकरण नाम से ब्रह्म सूत्र एक तीन चौबीस और पच्चीस दो सूत्रों में इसी मंत्र पर विचार किया गया है क्योंकि नाप है ना प्रमित इसलिए इसका नाम ही पड़ा था प्रमित तो परिचिन्न व्यर्थ तो। यहाँ पूर्व पक्षी सब खड़े हो जाएंगे जितने भी रामानुजाचार्य वगैरह है परमाणु परिमाण वाले हैं अणुपरिमाण वाले हैं वो तो सब कहेंगे देखो ना आत्मा इतना छोटा होता है आप कैसे कहते हो व्यापक है उस परिपक्ष का खंडन करने के लिए प्रमिताधिकरण में मंत्र का विचार किया गया है अंगुष्ट मात्र पुरुष हो अंगुष्ट परिणाम परिमाण वाला ये जो पुरुष है उस हृदय कमल के मध्य में मध्य आत्मनी इस शरीर के मध्य में हृदय रूपी कमल के अंदर सपुरुष तिष्ठती वह पुरुष रूप ब्रह्म स्थित है उसको आप कैसे जानो भूत भविष्य ईशान भूत भविष्य और वर्तमान सबका उसको शासक समझो इन सभी का नियंत्रक इन सब सबके जो है काल का भी काल महाकाल स्वरूप ही है वो न तो, तो विजुगुप्त सत्य है ऐसा समझकर ज्ञानी पुरुष अपने शरीर रक्षा आदि की इच्छा करते हुए नहीं करता है न विचुप सकते गुप्त धातु रक्षा अर्थ में उपरक्षण रक्षा करने की इच्छा वह नहीं करता न तथो विचुप तथा मैंने ऐसा जानकर निश्चय कर वह ज्ञानी पुरुष उस आत्मा का अनुभव करके इस शरीर आदि की रक्षा करने की चेष्टा नहीं करता एक वही तथ्य निश्चय यही वह ब्रह्म तत्व है जिसको तुमने पूछा था अंगुष्ट परिमाण अंगुष्ट परिमाण जीवम अनुद्या अंगुष्ट परिमाण जो जीव उसी को अनुवाद करके ब्रह्म भाव का विधान करने के लिए विधियमान के साथ विरोध होता है इसलिए अंगुष्ट मात्र जो यहाँ पर कहा गया वह अविवक्षित समझना परिमाण यहाँ अविवक्षित है ये केवल साधक को लिए एक साधना के रूप में कथन किया जा रहा है उसके अनुभव करने की एक रास्ता बताई गई है इसका मतलब ये नहीं है कि वास्तव में वह ब्रह्म अंगूठा बराबर के परिमाण वाला है ऐसा तो नहीं सोचना तो प्रथमोपलब्धि के लिए अंतर्मुख करने के लिए इस मन को बताया जा रहा है अंदर जाने के बाद अब हमारे कोई अंगूठे परिमाण वाला कोई आत्मा अलग नहीं दिखेगा आप एक दीपक के जैसे अंदर दिखाई दे फिर बाद में वही फैलते फैलते फैलते ब्रह्म बन जाए इस प्रकार का कोई आपका अनुभव नहीं होता है इसलिए ये जो परिमाण का कथन है वो आपका अंतर यात्रा का एक साधन मात्र ही है अतएव उस साधन में जो साधन हमेशा क्या है साध्य प्राप्ति के लिए आरोपित वस्तु विशेष मात्र ही होता है वही साध्य रूप नहीं होता या साध्य का वास्तविक स्वभाव नहीं होता अतः ब्रह्म का वास्तविक परिमाण विशेष का कथन अंगुष्ट मात्र शब्द नहीं कर रहा है न तो यहाँ पर कोई उपासना ही है कि अंगुष्ट मात्र ब्रह्म में शुद्ध ब्रह्म की उपासना करो या दृष्टि करो ऐसी बात भी यहाँ नहीं है अप्रासंगिक कथन करना अनुचित होता है शुद्ध ब्रह्म पूछा गया है और उपासी ब्रह्म का कथन करें यह बिल्कुल अनुचित होगा अतएव यह अंगुष्ट मात्र शब्द जो है वह परिमाण वाचक होते हुए भी वह परिमाण वास्तविक परिमाण का कथन नहीं करता लक्षक मात्र ही है इस बात पर ध्यान भाषाकार कहते देखिए अंगुष्ट मात्र मैं अंगुष्ट परिमाण अंगुष्ट परिमाणम हृदय पुंडरी का से क्या है अंगुष्ठ परिमाण वाला ब्रह्म नहीं समझो अंगुष्ठ परिमाण क्या है हृदय कमल है जिसमें स्थित होकर आप उसका अनुभव कर सकते तच्छिद्रवत वर्ती अंतकरणोपाधि अंगुष्ठ मात्र क्योंकि तादृश हृदय कमल रूपी छिद्र में के भीतर में अंतकरण उपाधि अंगुष्ठ मात्र के समान होता है अंगुष्ठ मात्र वंश पर मध्यवर्ती वक्त उसी प्रकार से अंगुष्ट मात्र जो वंश पर्व बांसों का जो गांठ होते हैं उन गांठों के बीच दोनों गांठों का बीच विद्यमान आकाश के समान यहाँ भी हृदय आकाश को समझो हार्द आकाश जिसमें अंतकरण रूपी जिसको वेदान परिवार में कहा टेंकी टेंकी उस टंकी से क्या हो रहा है एक छेद हो गया है और वो छेद से पानी निकला नाली में गया और नाली से खेती में गया वो टंकी यही है वो हृदय आकाश वो हृदय कमल मतलब कितना बड़ा टंकी है वो अंगुष्ट मात्र टंकी है वो टंकी का नाप है ब्रह्म का नाप नहीं इसलिए स्पष्ट कहते हैं अंगुष्ट मात्र वंश पर मध्यवर्ती अंबर के समान है पुरुष पूर्णम अनेन सर्वमिति पुरुष जिससे पूर्ण है सभी उसी का नाम पुरुष मध्य आत्मनी मैंने शरीर तिष्टते इस शरीर का बीच में वह अंतकरण रूपी उपाधि विद्यमान है जिस उपाधि में स्थित होकर आप शुद्ध उपाधि में स्थित होकर आप अनुभव करते हैं या तम आत्मान ईशानम भूत भविष्य तारस भूत भविगे आ ईशान है वो मैंने शासक है वो ऐसे जान करके न तथा इत्यादि पूर्वत इत्यादि पहले व्याख्या हो चुकी है इसे दो बार उसकी व्याख्या नहीं कर रहे भाषा और भी विशेषणों से स्वरूप का कथन किया जा रहा है अंगुष्ट मात्र पुरुष ज्योतिर्वाधूमक ईशानो भूत भव्य सहवाद्य सभुष्व एक तत् जिस शरीर का बीच में हृदय गुफा के अंदर विद्यमान अंगुष्ट मात्र परिमाण वाला आकाश से परिचिन लेना अनुभव में होता हुआ वह चैतन्य जो आत्मा है ब्रह्म है वह वास्तव में परिचिन नहीं है जो परिचिन होता है वह तीनों कालों पर अनुशासन करने वाला नहीं हो सकता अद्वैतारस तीनों कालों पर अनुशासन करने वाले को अपने हृदय गुफा में अनुभव करने के पश्चात वह व्यक्ति किसी भी चीज से रक्षा करने की अपेक्षा या प्रयास नहीं करता ये जो आपने कहा था उस पर विचार होता है लेकिन वह क्या वास्तव में विशुद्ध है क्या मायावचन क्योंकि मायावचन ईश्वर भी तीनों कालों का शासक है और इस ईश्वर का ज्ञान हो जाए अनुभव हो जाए तो भी आपको जो अपने आप की रक्षा जैसे खुद ही नचिकेता ने देखा यहाँ पर आपने यमराज साहब कहते तो जब आप मेरे को मिल गए तो मेरे को चिंता ही क्या है, है? आपकी प्रसन्नता से हम अनंत काल तक जीवित भी रह सकते हैं जब तक आपका समय है तब तक तो हम आराम से जी सकते हैं मुझे क्या चिंता है तो शरीर की रक्षा की इच्छा तब भी नहीं होगी ना जब यमराज से संबंध हो जाए तभी शरीर की रक्षा की इच्छा नहीं हो सकती है फिर ईश्वर से संबंध हो जाए फिर क्या कहना कहीं मोतिगन्या तो इसलिए कहते हैं ऐसी स्थिति में तो कह रहे हैं ये तो इसलिए स्पष्ट करना पड़ेगा क्या वो मायावचन चेतन तो नहीं है तो इसलिए कहते ज्योतिरिव अधूम कहो वह जो अंगुष्ट मात्र पुरुष है वह उस प्रकार का ज्योतिर्मय वस्तु है बिना धूम के अग्नि के समान विशुद्ध धूम से आवृत अग्नि जैसा है वैसा ये चैतन्य नहीं है इसलिए कहते हैं अधूम का ज्योतिर इव ईशान भूत भव्य और वही सदा रहता है ये मत समझो अभी है कभी नहीं है मायावचन तो कभी है कभी नहीं भी है लेकिन ये ऐसा चीज नहीं है वही अब है वही हमेशा के लिए रहता है कल भी वही रहने वाला है अर्थात सदा रहने वाला है ऐसे कहा करके जितने भी अनित्यात्मवादी सब खंडन कर दिया शनि विज्ञानवादी लोग क्षण वादी लोग सबका खंडन हो गया इस वाक्य से ये तो द्वई तत्व निश्चय यही वह है तत्व जिसको तुमने पूछा था अंगुष्ट मात्र पुरुष हो ज्योतिष अधूमको अधूमकम इति ज्योतिष शब्द नपुंसक लिंग है इसलिए अधूमक पुल्लिंग नहीं होना चाहिए नपुंसक लिंग होना चाहिए ज्योतिष प्रता ये तो वही क्योंकि ज्योतिष पर का विशेषण होने के कारण चांद स्पुलिंग हो गया है समझो ये तो एवं लक्षित योग हृदय जो इस प्रकार से अविद्या माया आदि किससे भी अनावृत होकर के जो विशुद्ध प्रकाश स्वरूप योग भी हृदय लक्षित हाँ, योगियों के द्वारा अपने हृदय में जब लक्षित हो जाता है ईशान भूतव्य वह भूत भव्य मैंने भविष्य और भूतकाल अर्थात तदगृहित लघु उपलक्षित वर्तमान काल त्रिकालक का शासकत्व अनुभव जब कर लिया और ये जानता है वही स्वात्मा सैव नित्य कूटस्थो वो आत्मा कैसा है वो नित्य है कूटस्थ है वो अद्यवन इधानी प्राणिश वर्तमान इस समय प्राणी में विद्यमान है और वही सौ वो भी वर्तिषद है वही कल भी रहेगा नान्य तत्सम जनिषद है जैसे बहुत लोग मानते हैं आज जो है अभी जो क्षणिक विज्ञान है वो अगला क्षण नहीं रहेगा स्व से बिन दूसरे को पैदा करेगा और जो दूसरा है वो स्व के सम होता है स्व समान होता है नहीं तो पहला जो हुआ वो दूसरा अलग ही हो जाए बिल्कुल पिछले तो ने कर्म किया और अगले ने बिना कर्म भोग किए फिर उसका भोग कहाँ से आया करता है ना अकृताभ्यागम दोष उनके मत में आता है इसलिए क्या कहते हैं जो धारा विज्ञान का है पक्षण विज्ञान धारा होने के बावजूद भी वह पूर्व पूर्व विज्ञान के सदृश ही उत्तरोत्तर विज्ञान को उत्पन्न किया करता है उसको यहाँ पर कहते नहीं ऐसा हो नहीं सकता नान्य तत्समो अन्य है न तो कोई दूसरा पैदा ही हो रहा है न तो दूसरा कोई उसके समान ही उत्पन्न हुआ करेगा दोनों ही सिद्धांत खत्म है दूसरा पैदा होता है कहना ही गलत है जैसे चारवाकारी कहते हैं ये शरीर मर जाएगा दूसरा चैतन्य आत्मा पैदा हो जाएगा अगला शरीर में वो भी गलत है या इसके सदृश दूसरा जो शरीर विज्ञान उत्पन्न होता है मानते हैं जो उनका मत गलत है ऐसा हो नहीं सकता अनिना किसी इसी वाक्य के द्वारा नायम अस्ती चाहिए के अयम पक्षो न्याय तो अप्राप्त स्वच्छ श्रुतिया प्रत्युक्ता नायम अस्ती इति एक है प्रश्न डाला था नचिकेता ने वह प्रश्न वास्तव में न्यायत्व अप्राप्त युक्ति के आधार पर भी अप्राप्त है क्योंकि पूछने वाले का खुद का आत्मा या नहीं उस प्रश्न का भी तो आत्मा है वो कैसे कहेगा मेरा आत्मा नहीं है कह सकता है कोई इसलिए यद्यपि युक्ति से विचार कर रहे हैं तो भी यह प्रश्न यह संशय ये जो विकल्प है ये उपपन्न ही नहीं है फिर भी श्रुति कृपालु है तो उसने क्या करा कि जवाब अपने शब्दों से कह दिया अस्ति वो है और नित्य है सऊ एव अद्य और सौ एव स्व प्रत्युक्त तथा उस शंका का प्रत्युक्त कर दिया गया इतना ही नहीं क्षण भंगवाद जो क्षण भंगवादी बौद्धों का मत को भी इसी वाक्य से खंडन हो गया समझ लो पुनरअप भेद दर्शन अपवाद ब्रह्मण आह उस ब्रह्म के अंदर भेद दर्शन के अपवाद को दोबारा कथन कर रहे हैं यथोदक दुर्गे पर्वतेशु विधावती एवं धर्मान पृथक पश्यवान विधावती जैसे पर्वतीय स्थानों पर वर्षा हुआ जो जल है वह पर्वतीय निम्न प्रदेशों को बिखर जाता है फैल करके खत्म हो जाता है नष्ट हो जाता है उसी प्रकार से जो इस आत्मा में पृथक धर्मान पश्चन पृथक धर्मों को भेद विशिष्ट को वस्तुओं को अनुभव करने लगेगा तो निश्चित रूप से तानेव अनुविधावती वह भेद में ही भेद का अनुसरण करता हुआ भेद में उष्ट की निष्ठा बनी रहेगी अगर बारम्बार जन्म मृत्यु पूर्वक भेद को ही प्राप्त करते रहेगा यथोदकम दुर्गे मैंने दुर्गमे देश है दुर्गम देश में उच्छृदे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर गिरा सिक्तम वृष्ट मैंने सिक्तम पर्वदेशो पर्व वत्सु निम्न प्रदेश पर्वत्सो तत्पर्वम मरुद्भ्याम सूचना पर्वत्सु निम्न प्रदेश पर्वत का निम्न प्रदेशों में दौड़े दौड़े आएगा वो एक एक बूंद भी मिलजुल करके कुछ तो वहीं का मिट्टी भी पी जाएगा और पथरीला हो पिएगा से वो भी सब आ जाएगा नीचे सारे के सारे नीचे आ जाते हैं आ करके नीचे फैलते जाते हैं विधावती विकीर्णम सब विनश्यती विकीर्ण होगा बिखर जाएगा बिखर करके विनाश को प्राप्त फैलता है और जहाँ एक धार बन भी जाता है उसको भी लोग छोड़ते नहीं जगह जगह कुछ बांध बुंद बांध करके उसको नहरों के माध्यम से अपनी खेती में ले जाएंगे इधर उधर ले जाके वो सब खत्म ही हो जाएगा जितना निकलता है जितना इकट्ठा होता है सारा का घर समुद्र पहुंचता ही नहीं है दस प्रतिशत भी समुद्र नहीं पहुंचता है नब्बे प्रतिशत से ऊपर ही लोग और अनेक प्रकार से इधर उधर नष्ट हो जाता है जितनी बारिश हो जाए सारा का सारा पहुंच जाए ऐसा होता नहीं शायद ऐसा हो जाए तो बहुत भारी कोई दुर्घटना ही घट जाए ऐसा होता नहीं उस समय होगा जब सांवर्तिक अग्नि के द्वारा प्रचंड अग्नि से सांवर्तिक वर्षा होगी प्रलयकालीन वर्षा उस समय भले ही वैसा हो जाए एवं धर्मान आत्मनो भिन्नान पृथक पश्चिम पृथक एवं प्रतिशरम पश्चिम इस इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने से भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न हर वस्तु को देखता है अर्थात स्व शरीर से भिन्न प्रत्येक शरीर तदवचन चैतन्यभूत आत्माओं को अलग अलग अलग मानता अनंत आत्मा मानता है तान एव शरीर भेदानुवर्तिनो अनुविधावती उस शरीर भेद का अनुवर्तन करते हुए वह व्यक्ति भी हर बार जीने मरने के बाद में अनेकों शरीरों को प्राप्त करते रहेगा और इस प्रकार से अज्ञान में डूबा हुआ होकर अपने ही विनाश को करते रहेगा शरीर भेदमेव पृथक पुनः पुनः प्रतिपद्य दे कहने का मतलब बारंबार और पृथक पृथक शरीर भेदों को ही प्राप्त करते रहेगा और जो पुनः विद्यावान पुरुष है उसका कैसे होता है यथोदकम शुद्धे शुद्धम आसिकम तादृगे भवती एवं मुनिर्विजानत आत्मा भवती गौतम जिस विद्वान मुने है विजाता मुने है अभेद दृष्टि से अभेद स्वरूप सात्मा को जानता हुआ उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार से शुद्ध जल को शुद्ध जल में मिला दो तो क्या हो जाएगा ऐक्यता को प्राप्त हो जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसी प्रकार से वह शुद्ध ब्रह्म यह जीवात्मा सीधे मुक्ति को प्राप्त कर जाता है इसे यथा उदकम शुद्ध है शुद्धम आसिकम शुद्धम उदकम शुद्धे आसिकम शुद्ध उदक को शुद्ध उदक में ही आपने डाल दिया तो तराद्र के वो भगवती वो तो एक हो जाएगा वहा भेद आपको नहीं दिखाई देगा शुद्ध जल में अशुद्ध जल डाल दो तो फर्क दिखाई देगा नहीं शुद्ध जल में शुद्ध जल भी डाल दो तो कोई फर्क नहीं एक साथ बल्कि और अधिक मात्रा बन जाएगा मात्रा बढ़ेगी उसी प्रकार यहाँ पर भी आनंद बढ़ेगा ये परिचिन आनंद से आप अपरिच्छिन्न आनंद को प्राप्त कर है इसलिए ज्ञान के दृष्टान दिया एवं मुनिर्विजानता आत्मा बहुत गौतम हे गौतम यश पुनर्विद्या विध्वस्त उपाधि कृत भे दर्शन से विशुद्ध विज्ञान घनिक रसम अग्रिम आत्मा पश्यतो विजानतो मुने मननशील से आत्मस्वरूप कदम भवती जो विद्यावान पुरुष है विध्वस्त उपाधिकृत भेद दर्शन उपाधियों के कारण से जो भेद दर्शन हमारे अंदर विराजमान था उसको उसने अपनी विद्या के द्वारा अज्ञान को अविद्या को नष्ट कर दिया